और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है और हमारी आयतों को छुटलाया है तो ऐसे लोगों के लिए जिल्लत वाला अज़ाब होगा